दोस्तों आपने साजों पर भीम प्लासी सुन रहे थे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो इनके लिए एक बार फिर तालियां बजाइए मैंने नहीं सुनी हमारे बहुत ही बड़े कलाकार मैं देख रहा हूँ धर्मवीर सिंह जी भी आ गए हैं आ, मुझे रोशनियाँ पड़ रही हैं और ये कहने के लिए लगी हुई ठीक है ना <laughs> तो इस आइटम के बाद अब तबला सोलो की आइटम होगी और तब दो बच्चे आपके सामने आएंगे एक संगत करेंगे हारमोनियम पे दोनों भाई हैं देखिए आप इन्होंने दो साल में कितना सीखा है देवेंद्र पाल सिंह जी जो सुखविंदर सिंह पिंकी के शागिर्द हैं वो सिखा रहे हैं इन बच्चों को तबला वादन और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि जो पिंकी है पिंकी का संबंध बहुत बड़े घराने से है बनारस घराना जिसे कहते हैं तो उसी घराने के ये मैं कहूँगा कि छोटी पनीरी जिसे कहते हैं उसी घराने की चल रही है तो इनके आप देखिए कितने कितना इन्होंने रियाज़ किया है छोटी उम्र में भी आपको इनको सुनकर बड़ा लुत्फ आएगा तो प्रोग्राम में जाहिर है कि थोड़े थोड़े गैप्स होंगे ऐसे प्रोग्रामों में भी होते हैं जब स्टूडेंट्स होते हैं क्योंकि आप अगर चेन की आइटम्स बड़ी प्रोफेशनल हैं लेकिन कोई स्टेज मैनेजर नहीं है यहाँ गुरुदेव सिंह ही स्टेज मैनेजर हैं या मैं होता हूँ स्टेज मैनेजर और पूछना पड़ता भी अगली आइटम है कि नहीं इसलिए मुझे क्षमा करेंगे आप आप सुनते रहिए इनको so let's gentlemen let's have tabla solo तो आपके सामने पेश करेंगे ग्यारह साल जीवन सिंह तबला सोलो पेश करेंगे और अर्जुन सिंह नौ साल इसके छोटे भाई हारमोनियम पर संगत करेंगे लहरा बजाएंगे so ladies gentlemen please welcome Jeevan Singh and अर्जुन सिंह